हरिताद बाढ़ स्वा सुचरिते भज उदायुषा सुवायुषोदस्थाम् अमृताम् मनु सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों मानव जीवन की सूक्ष्म रूपरेखा जो आदि सृष्टि से अब तक ऋषि योगी तत्ववेता गवेषणा करते आए जो उन्होंने ऋषियों ने उस अपनी गवेषणा की हुई वास्तविकता को लेखबद्ध अपने ग्रंथों में किया है ये आत्मा परमात्मा से संबद्ध है विद्या ज्ञान मन बुद्धि आंतरिक विविध वृत्तियां इस रूप में जैसा कि ऋषियों ने लेखबद्ध किया है वैसा भूगोल में किसी भी देश संप्रदाय समाज के पास में ऐसे ग्रंथ नहीं है और जैसे ऋषियों ने सफलता प्राप्त कर जीवन की कृतकृत्यता को उपलब्ध कर औरों को बतलाया वैसे किसी संप्रदाय भौतिक वैज्ञानिक के पास में ऐसी ऐसी कृतकृत्यता के साधन नहीं है जब आप ये समझ जाएंगे या अच्छी तरह मान लेंगे या प्रयोग में ला के देखेंगे तब आपको शत प्रतिशत निश्चित ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में ये बातें सत्य हैं यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे व्यवहार में नहीं लाएंगे और तप त्याग समय नहीं लगाएंगे उसके अनुभव तक ले जाने में तो उस स्थिति में आपको संदेह होगा या भ्रांति होगी या साधारण ज्ञान बना रहेगा आपका कि हाँ हो सकता है ऐसा उन्होंने लिखा है यदि आपके मन में बुद्धि में ये बातें हैं कि और भी कोई विकल्प और भी कोई मार्ग हो सकता है जो कृतकृत्यता को प्रदान करता हो तो ऐसी स्थिति में आप पूरा बल वैदिक परंपरा को धरती पर उतारने में नहीं लगा सकते समझ में आया नहीं आज ध्रुवदेव जी क्या यदि हमारे मन में ऐसा विचार है कि वैदिक मत के अतिरिक्त अन्य कोई मत भी है जिससे कि कृतकृत्यता प्राप्त हो तो हम किसी भी दशा में वैदिक सिद्धांतों को धरती पर उतार नहीं सकते बौद्धिक स्तर पर परमाणु से अच्छे प्रकार से परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि मूल मूल जो सिद्धांत मुख्य सिद्धांत मान्यताएं हैं लोगों की वो ठीक बुद्धि पूर्वक है या नहीं वो परमाणु से सिद्ध भी होती है या नहीं जब परमाणु से उनकी मान्यताएं प्रमुख मान्यताएं सिद्ध नहीं होती तो व्यक्ति जान लेता है कि ये व्यक्ति व्यक्ति के जीवन को कृतकृत्यता तक नहीं पहुंचा सकते ये पता चल जाता है और जो लोग कुछ सुनते हैं कुछ स्वाध्याय करते हैं और ये समाजों में आते रहते हैं दस वर्ष पंद्रह वर्ष वो यदि ऐसी रूपरेखा बना के परिश्रम नहीं करते सूक्ष्मता से उसको नहीं समझते बौद्धिक स्तर पर नहीं समझते और बौद्धिक स्तर पर समझने पर आचरण में लाने का प्रयत्न नहीं करते वो लोग पंद्रह वर्ष या बीस वर्ष में कहिए फिर भी वैदिक परंपरा को छोड़ के वैदिक सिद्धांतों को दूसरे मतों में जाके रहते हैं हमने कल सुना था कि हमें इन बातों को क्रिया रूपों में कैसे लाएं इन विपरीत विचारधाराओं को अशुभ संस्कारों को अविद्या को हटाना और विद्या को शुभ संस्कारों को धारण करना ये क्रियाएं कैसे होती प्रथम व्यक्ति प्रमाणों से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा पांच परीक्षाओं से अच्छे प्रकार से परीक्षा करके देखता है और वो निर्धारित कर लेता है निश्चय कर लेता है कि ये सत्य ही है कर्तव्य ही है धर्म ही है ये अकर्तव्य है ये असत्य ही है ऐसे निश्चय करता है इस किए हुए निश्चय को वह व्यक्ति बार बार दोहराता है बार बार आवृत्ति करता रहता है दिन भर अनेक बार दिन में वो आवृत्ति करता रहता है ध्यान अवस्था में ध्यान देके देखा जाए तो विशेष आवृत्ति होती है उसमें जो सूक्ष्मता आती है जो सूक्ष्मता में व्यक्ति जाता है ध्यान अवस्था में वैसा चलते फिरते इतनी सूक्ष्मता में नहीं जाता इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि हमारे मन में आत्मा पर बुद्धि में जो बुरे जो संस्कार हैं अशुभ संस्कार हैं आदि सृष्टि से लेके आज तक हमने डाले हैं यदि हम मुक्ति से न आए हों तो क्या समझे यदि हम मुक्ति से लौट कर न आए तो आ हाँ, गया समझ में और उन संस्कारों को हमें थोड़े से ज्ञान थोड़े से अभ्यास थोड़े से वैराग्य थोड़े से सत्संग थोड़े से तप त्याग से हटाना चाहें रोकना चाहें या उनको निर्बल बनाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता आपने पढ़ा होगा योग दर्शन में क्या पढ़ा तासाम च आशीषो नित्यत्वाद तासाम वासना नाम अनादित्वम भोगों की इच्छा अपने कल्याण की इच्छा रहती है तो उनका प्रवाह से अनादित्व है वासनाओं का जितने हम जन्म लेते गए मनुष्य पशु आदि उसी में पांचों इंद्रियों का लगभग भोग वैसा ही होता रहा अब करोड़ों जन्म हुए कितने जन्म हुए होंगे मन वही है इंद्रिया वही है बुद्धि वही है क्यों साधक जी <laughs> उस वक्त कैसे कूट कूट करके भोगों की वासना भरी हुई होंगी ये कल्पना करो है हाँ। तो प्रमाणों से इन वासनाओं को हम जब परीक्षा कर लेते हैं फिर भी वासना ऐसे ही उभर के दिखाई देती हैं या हम उभार लेते हैं फिर जैसे रुचि हो गई हो आप ऐसा परीक्षण कर सकते हैं हम क्या करते हैं कैसे उनसे टक्कर लेते हैं कैसे उनको हटाते हैं हमें परीक्षा कर चुके जिन विषयों की उनमें कभी कभी तो कुछ परीक्षाएं हमारी ऐसी होती हैं वो अनुभूति का विषय बन जाती है जैसे अनेक बार व्यक्ति ने स्वादिष्ट भोजन खाया सवाया डेढ़ा खाया जो नहीं खाना चाहिए था वो खाया और उसके परिणाम उसने भोगे और कहने लगे ये तो बहुत भयंकर है अरे ये आगे नहीं करूंगा मैं अनुभूति का विषय बन गया या नहीं होता लगभग होता ही है कभी न कभी तो वो खाना पीना सभी करते हैं और सर्वज्ञ तो है नहीं वो सोया खाएंगे डेढ़ा खाएंगे या नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे फिर दस्त लगेंगे पेट में दर्द होगा अनुभव हो गया कि ये तो गलत खाया गया होता क्या है कालांतर में सप्ताह के पश्चात या एक महीने के आदि आज वही भोजन उसी प्रकार का भोजन और वही खाने की रीति नहीं थी और वो व्यक्ति वो जो दुख हुआ था संदीप जी याद है या नहीं है? जो दुख हुआ था सवा डेढ़ा खाने से हुआ था ना वो दुख को अनुभूति तो कमजोर पड़ गई वो दब गई और सुख की अनुभूति वो पदार्थ सामने आया तो बहुत तीव्र हो गई आत्मदेव जी समझ में आया क्या आया ये बोलेंगे जब तक तो बहुत सा समझ चला जाएगा ध्रुव दे जी बोलो जब पदार्थ स्वादिष्ट पदार्थ सामने आता है तो दुख की जो अनुभूति है वो दूर हो जाती है और जो सुख अनुभव किया था वो सामने आ जाता है क्या समझ में आया स्वादिष्ट पदार्थ को खाने से पूर्व जो दुख की अनुभूति की थी हाँ के आगे मैं नहीं खाऊं पीऊंगा ऐसे फिर फिर दोबारा जब वो खाने पीने की वस्तुएं आई तो जो दुख का अनुभव किया था गलत अशुद्ध अधिक खाने से वो दुख वाली अनुभूति तो कमजोर हो गई निर्बल हो गई और सुख की अनुभूति तीव्र हो गई तो परिणाम क्या निकला हम्म? दोबारा वैसा ही फिर खा लिया फिर भोगता है वो भोगने के पीछे फिर कहता है ये आज फिर भूल हो गई फिर भूल हो गई तो फिर कहता है आगे ऐसा नहीं करूंगा आगे फिर वही खाने पीने की चीजें आती है और वही बात फिर होती है पहले दुख की अनुभूति कमजोर पड़ गई और सुख की तीव्र हो गई फिर खा गया ये अस्सी वर्ष तक ऐसा ही करता रहता है नब्बे वर्ष तक भी कर सकता है अब जब वो स्थिति उभर के आती है दो बार है खाने पीने की तब हम परमाणु से सिद्ध प्रत्यक्ष भी है हमारा इसमें प्रत्यक्ष कर चुके हैं हम प्रत्यक्ष से टक्कर लेते हैं ये पहले खा चुका हूं पहले भोग चुका हूं ये वास्तव में मेरी मान्यता गलत बन गई है वास्तव में मैं जो सोच रहा हूं ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है और इसको मैं नहीं खाऊंगा उसी ढंग से टक्कर लेता है नहीं खाऊंगा नहीं खाने की है नहीं खाऊंगा और अधिक या सवा डेढ़ा खाने के ये भी नहीं होने दूंगा वो इससे खूब संघर्ष करता है और परीक्षा पहले हो चुकी है प्रत्यक्ष प्रमाण से तो अब भूल नहीं करूंगा तो वो व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो वो सवाया खाना डेढ़ा खाना जो नहीं खाना वो खाना उसे वो रोक देता है ऐसे टक्कर लेते आपने प्रश्न उठाया था ना इनको इनसे हम टक्कर कैसे लेते उदाहरण देके कोई समझाया जाए आ गया समझ में ये एक उदाहरण है पांचों इंद्रियों का ऐसा ही समझ लेना चाहिए ऐसा ही होगा एक और इसका अंश है वो ये है कि जहां जहां हमारा प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ है याद रखना और अन्य शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से बात सिद्ध हो चुकी है फिर वो विषय उभार दिया जाता है और फिर शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से विपरीत भोगों को भोगने की इच्छा होती है आप ऐसा देख सकते हैं वहां पर कैसे संघर्ष कर सकता है व्यक्ति कैसे उसको हटा सकता है व्यक्ति वो देखता है कि शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से मैं इसका परीक्षण कर चुका हूं ये मेरी इन भोगों की इच्छा गलत है अशुद्ध है हानिकारक है मुझे इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसे देखता यदि उसके मन में शंका होती है उभरती है कि बुद्धि तो ये कहती है कि इसको खाना पीना अर्थात प्रयोग करना चाहिए बुद्धि तो ये मानती है इच्छा तो यही है पर शब्द प्रमाण ये कहता है ये गलत है ये टकराव उस समय जानना चाहिए कि प्रत्येक प्रमाण से ही जो बात सिद्ध होती हो वही सत्य होती है ऐसा नियम नहीं है क्या समझे आप साधक अच्छा जी बोलो अनुभूति तो हुई नहीं है किंतु तो शब्द प्रमाण के आधार पर जो बात ठीक नहीं है सिद्ध हो चुकी है हो चुकी है और बुद्धि उसको अच्छा मानती है हाँ तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष तो उसकी अनुभूति है कि इसका भोग भोगो अनुभूति तो ये कहती है अच्छा लगता है और शब्द प्रमाण उसका निषेध करता है तो वहां पर कैसे संघर्ष करते हैं प्रत्येक प्रमाण से जो बात सत्य से धो या असत्य से दो वही ठीक है ऐसा नहीं मानना कितने ही प्रयोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होते ही नहीं वो शब्द प्रमाण से सिद्ध होते हैं वो अनुमान प्रमाण से सिद्ध होते जब शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से सिद्ध होते हैं तो उनसे सिद्ध बात को सत्य क्यों नहीं माना जाए तो वो ये मानता है ये शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से सिद्ध है कि ये अशुद्ध है अनुचित है इसको मैं नहीं करूंगा ऐसे संघर्ष करता वेद मुनि जी आज समझ में या नहीं आया प्रचार के लिए जाते होंगे गांव में नगरों में कस्बों में और आप खूब एकाध मंत्र की व्याख्या कर देते होंगे और फिर लोग कहते हैं कि भाई वेद मुनि जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया बहुत अच्छे बोले और बहुत सुंदर प्रेरणा दी और वेद मुनि जी सोचते होंगे भाई बेड़ा पार हो गया है अब मुझे करने की कोई विशेष उपाय विशेष प्रयास करना दिखता नहीं ऐसा वो सोचने लगता है साधारण व्यक्ति उम्र रहता उठता बैठता है तो वो व्यक्ति थोड़ी सी विद्या से ही अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान लेता है और उच्च कोटि के लोगों में जो रहता है तो बहुत बड़ा विद्वान होने पर भी अपने आप को मूर्ख मानता है क्या समझे मनोविज्ञान हाँ जी बोलिए व्यक्ति का मनोविज्ञान है कि ऐसे थोड़ा ही बोलते हैं औरों को सुनता नहीं वही बोलने की शैली बदलो व्यक्ति के मन में यह एक भ्रांति होती है कि वो न्यून ज्ञान होते हुए भी वो अपने को विद्वान मानता है और एक व्यक्ति विद्वान होते हुए भी अपने को मूर्ख मानता है होगी पूरी बात या कुछ बच गया तो ऐसा व्यक्ति का मनोविज्ञान मतलब क्या छोड़ा इन्होंने साधारण व्यक्ति का समस्या रहेगा वो तो अपनी न्यूनता को भी अधिक मानेगा हम्म। किंतु जब अपने से अधिक योग्य विद्वान व्यक्ति के समक्ष जाएगा तो अपने को फिर न्यून महसूस छूटा तो नहीं था आपसे तो सुना क्यों नहीं आपने एक व्यक्ति की मनोवृत्ति देखी गई कई बार सबकी नहीं कुछों की कि साधारण लोगों में रहना चाहिए जो मुझे विद्वान माने जो मेरा से प्रभावित हूं और कहेंगे बहुत अच्छा बोला इन उच्च कोटि के बुद्धि वाले लोगों से दूर रहना चाहिए <laughs> या नहीं समझते आप साधक ऐसा होता नहीं होता है नहीं अनुभव करते आप एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उच्च कोटि के विद्वान उच्च कोटि के आचरणवान तत्ववेता जिन्होंने अपना जीवन ऊंचा बनाया है उनके पास रहना चाहिए उनके पास रहने से मेरी अविद्या या मेरा अधर्म मेरे उल्टे व्यवहार विचार वो जाने जाएंगे और उनको मैं दूर कर दूंगा ये लाभ होगा मान्यताओं को जो विषय भोगों की ओर उभार ली जाती है वहां पर शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से व्यक्ति संघर्ष करता है कि शब्द प्रमाण में जो बात कही गई अनुमान प्रमाण से जो सिद्ध है वो बात सत्य है और उसके विपरीत मेरी बुद्धि स्वीकार करती है कि उल्टा करो या अच्छे को न करो ये मेरी मान्यता गलत है अशुद्ध है मैं इसको स्वीकार नहीं करता यहां से उन प्रवृत्तियों को रोक देता है वो बुरी प्रवृत्तियों को रोक देता है और अच्छी प्रवृत्ति जो करने चाहिए कर्म उनको अनिच्छा होने पर भी करता है कभी कभी अच्छे कार्यों के विषय में व्यक्ति ये सोचता है ये अच्छे कार्यों के विषय में मुझे कुछ भी तो लाभ नहीं दिखता इतना समय उपासना में लगाते कुछ भी तो लाभ नहीं दिखता इन दर्शनों के पढ़ने में मुझे कुछ भी लाभ नहीं दिखता मेरी अनुभूति नहीं कि इनसे भी कोई लाभ होता होगा जिसे व्यक्ति को सफल होता हो ऐसा ये विचार आएगा इसमें भी वही प्रयोग होगा जो पहले हुआ समझ में नहीं आया हो तो दोहराओ नहीं आया अच्छे कर्मों को अनिच्छा होने पर भी करना चाहिए क्योंकि हाँ। ये प्रमाणित है ये प्रमाणों से सिद्ध है यदि ये रीति ये पद्धति जो सुनाई यदि आपके प्रयोग में नहीं आती तो आप सफल नहीं हो पाएंगे निश्चित रूपेण विफल होंगे इसमें कोई भी संदेह नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक है प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में मन में बुद्धि में सारा व्यापार ये सारी वृत्तियां ज्यो की त्यों आती है आपने एक प्रयोग सुना था कि बिना परीक्षा किए तत्काल विषय को पकड़ना अच्छे को बुरा मान लेना बुरे को अच्छा मान लेना बिना परीक्षा किए इसको रोकने के लिए हमको ये नियम बनाना पड़ता है कि बिना परीक्षा किए हम किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करेंगे ऐसा नियम बनाना होगा बिना परीक्षा किए तत्काल विद्युत की भांति जो स्वीकार करता है व्यक्ति विषयों को इससे बचने के लिए उसको नियम बनाना पड़ता है कि बिना परीक्षा किए किसी भी बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा उदाहरण के रूप मन में विषय की इच्छा हुई चाहे रूप हो चाहे और हो कोई और उसने वासनाओं के कारण संस्कारों के कारण तमोगुण के कारण जन्म जन्मांतर के भोगों की पड़ी वासनाओं के कारण वो व्यक्ति अपने मन को उभार के झट विषय को ग्रहण करता है कि अच्छा है इस विषय का भोग करना अच्छा है अब वो इच्छा तो हो गई और निर्णय भी हो गया पर साधक व्यक्ति देखता है ये तो मैंने उल्टा जो विचार मानना नहीं था जो स्वीकार नहीं करना चाहिए था वो स्वीकार कर लिया मन में उदाहरण के रूप में आपको कोई खाने पीने की वस्तु ले लो बाग में गए किशोर गए ऐसे एकदम बहुत अच्छी पकी हुई है और आप चलते जा रहे हैं साधारण बात अब आप चलते चलते वस्तु दिखते ही बीच में कोई विचारने का अवकाश नहीं वस्तु दिखते इच्छा होगी ये इसका उदाहरण है समझ में आया नहीं यार कोई योजना लंबी चौड़ी बनाई नहीं कोई बात नहीं कोई लेने देने की कुछ नहीं वस्तु दिखे और लेने की इच्छा होगी बाजार में गए रेड़े पर अंगूर रखे बहुत सुंदर सुंदर देखे और इच्छा होगी आप ऐसे देख सकते हैं यदि आप मन को शुद्ध रखने वाले व्यक्ति हों कि भाई मन में ये आनी नहीं चाहिए तो आप झट अनुभव करेंगे तो गलत कर दिया मैंने तो इसकी इच्छा कर ली गुरों की और ये तो चोरी होगी एक प्रकार से अथवा और सूक्ष्मता में जाएंगे जब रेहड़े पर अंगूर दिखाई दिए बहुत अच्छे पके हुए तब उसके मन में झट विचार आया कि इनको खरीदो और खाओ बहुत अच्छे लगेंगे ये उससे गहराई है ये तो न्याय पूर्वक खरीदना है नहीं समझे साधक जी क्यों जी रवि जी न्यायपूर्वक न्याय न्यायपूर्वक खरीदने यार इसमें दोष कैसे आ रहा है जिनमें बड़ा आनंद आएगा ये दोष आ रहा है एक और आपने पढ़ा है कि विशेष हुक्म अविद्या विद्या चैति उत्तम क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है ये पढ़ा है और यहाँ ये विशेष सुख जो है ये अविद्या नहीं मानी जा रही अविद्या के कारण हम इसको सुख समझ बैठे ऐसा हम नहीं देख रहे यदि आप पहले से ही सावधान है कि अंगूर खरीद के खाना न्यायपूर्वक ठीक है व्यवहार में लौकिक व्यक्ति के लिए कोई बुराई नहीं है पर योगाभ्यासी के लिए ये स्थिति जब सामने आई तो उसके लिए तो स्पष्ट दोष है कि विशेष जो है अविद्या है अविद्या के कारण उस विषय को वो सुखप्रद मानता है वास्तव में इसमें परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख है इसमें अंगूर में ऐसा देखता है वो तो पहले से ही यदि वो परीक्षा करके ही किसी चीज को भाई खर, खरीदूंगा और उसको खाऊंगा और शरीर को चाहिए भूख है बल बढ़ेगा इंद्रिया काम करेंगी ये सब होगा पर उसमें आनंद है ये अनुभूति नहीं करूंगा मैं क्यों आया प्रयोग समझ में नहीं आया क्यों साधक जी आप ये तो नहीं कहेंगे ना कोई उदाहरण देके समझा जाए तो ठीक रहेगा हाँ जी अजी इच्छा कर लेती हाँ खरीदने अंगूर को देखते ही खरीदने की जो इच्छा कर दी उसने हाँ। वो इसके विचारने पर देखिए सुख नहीं लूंगा केवल शरीर के लाभ के लिए प्रयोग करूंगा वो दोस्त तो हटाने हटा नहीं थे वो हाँ जी क्या सुनाया आप बोलो कौन बोलेगा और दोबारा दोहराओ नहीं आया समझ फिर बोलो यहाँ प्रश्न ये था कि किसी चीज को देखते ही उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करना हम्म। यदि कर लिया तो वो अंकित है हाँ पहले एकदम इच्छा कर लेगा तो उसमें दो धाराएं हैं एक धारा है उसका आदत बनी हुई है कि बिना परीक्षाएं कर करना इसको रोकने के लिए एकदम इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है कि वो देखते ही इच्छा करता है अच्छी की भी करता है और बुरी की भी करता है तो उसको रोकने के लिए जो अभ्यास गलत बना तो एकदम इच्छा नहीं करनी चाहिए कि पहले मन को पकड़े रखना चाहिए और फिर फिर परीक्षा करें कि देखो ये जो वस्तु आई है इसको मैं खरीदू नहीं खरीदू और भोजन की दृष्टि से खरीद रहा हूं या रस की दृष्टि ऐसा परीक्षण करके खरीदना चाहिए अब देखो और दृष्टान देता हूं ये तो रचना का था अब सुंदर रूप सामने आया बाजार में गए और कहीं गए वहां पर भी यही बात है वो सुंदर रूप देखते ही रस लेना आरंभ कर देता है ये रूप का है समझ में आया नहीं आया सुंदर रूप देखते ही रस लेना आरम्भ कर देता है और उसको बहुत अच्छा लगता है अब वहां पर भी यही नियम है कि देखो पहले ये पता लगा लो कि ये सुंदर रूप सुखदायी है या नहीं है <laughs> यदि सुखदायी हो तो ग्रहण करना नहीं तो नहीं करना तो आप बच जाओगे और नहीं तो नहीं बच सकते सीधी बात करो सामने रूप आया सुंदर है जी हमने क्या किया आते तत्काल मन पर अधिकार कर दिया ग्रहण नहीं करना है दिखाई देते हुए ये रूप को ग्रहण नहीं करना कि सुखप्रद है वहीं रोक दिया मन को रोक दिया अब दो दृष्टि किसी को कुछ बात कही नहीं हो सुंदर रूप वाले को कोई लेना देना हो व्यवसाय व्यवहार करना हो ना तो आप रूप को तो नहीं देखेंगे सौंदर्य में रुचि बिल्कुल निकलने देंगे पर वो बात उसको कहेंगे रूप में रुचि नहीं लेंगे आप कुछ तो समझ में आया परीक्षा पूर्वक भाई यदि मैंने रूप में रुचि ली तो राग हो जाएगा राग से काम वासना भड़केगी और उससे ब्रह्मचर्य की हानि होगी ये देखेगा वो पुरानी वासनाएं उभर के आ जाएंगी और उसने उससे काम कुछ कहना है सुनना है तो सावधान होकर के अपने मन को अधिकार में करके रूप का रस नहीं लेना है इसमें दोष है और इस व्यक्ति से बात कहनी है कुछ लेना है देना है तो अधिकार पूर्वक परीक्षा पूर्वक उसको तो रोक दिया और जो कार्य करना था करवाना था वो उसने कर लिया ये प्रयोग होगा आपको उदाहरण के रूप में कैसे प्रयोग होते हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अब और उपासना के विषय में लो उपासना के क्षेत्र में एक व्यक्ति ईश्वर की उपासना में आशक्त अर्थात लगा हुआ था ईश्वर की उपासना में था वो अपने स्तर पर ईश्वर की उपासना उसकी चल रही थी चाहे वो व्यवहार में हो सामान्य जब उसने क्या किया कोई विशेष वस्तु आई विशेष व्यक्ति आ गया विशेष वस्तुएं आई जो कुछ आया हो वो ईश्वर की उपासना में जब स्थित था अर्थात ईश्वर की उपासना जब कर रहा था चाहे चलता फिरता कर रहा हो उसने उस वस्तु को देख करके जट ईश्वर की उपासना छोड़ी और उसकी उपासना आरंभ कर दी ये बिना परीक्षा के होता है अब क्या समझ में आया हम्म। आप चलते फिरते मान लीजिए ईश्वर की उपासना में रह रहे हैं चलते फिरते ईश्वर की उपासना करते हुए चल रहे हैं और कोई व्यक्ति आ गया कोई वस्तु आ गई कोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति आ गया जो भी कुछ है कुछ लेना देना आ गया धन संपत्ति आ गई तो वो ईश्वर की उपासना छोड़ना और उस वस्तु से प्रेम करना जो आई है सामने यदि बिना परीक्षा के वो करेगा तो तत्काल ईश्वर की उपासना छोड़ के और उस ईश्वर की उपासना आरंभ कर देगा यदि परीक्षा करके व्यवहार करना जानता हो तो वो देखेगा पहले से ही कि मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूं मैं उसको देखने लगा हूं तो क्या मैं इसको छोड़ तो नहीं रहा हूं परीक्षा करता है कहता है इसको छोड़ने की स्थिति में आ रहा हूं मैं तो, तो कहता इसको तो नहीं छोड़ना इसको इसको रखते हुए करते हुए मैं उसको उस व्यक्ति से बात करूंगा या उस वस्तु को देखूंगा नहीं तो नहीं तो बच जाएगा और नहीं तो ईश्वर की उपासना छोड़ेगा और बाहर के विषय की उपासना आरंभ कर देगा और कभी कभी तो लंबे काल तक पता ही नहीं चलता इन बातों का जो मैं आपको सुना रहा हूं अब क्या समझ में आया एक और उदाहरण बनाऊ <laughs> दूसरा बनाता हूं जिसमें पता ही नहीं चलता जैसे एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर रूप देखा और उसके अंदर बड़ी रुचि ली और आकर्षण उत्पन्न हो गया और वो समझता रहा मैं इसको देखता रहा ये ओझल न हो जाए इत्यादि हो गया हो गया तो फिर वो व्यक्ति इधर उधर चला गया वो व्यक्ति इसी धारा को लेकर चल पड़ा सोचता रहा मानता रहा काम करता रहा फिर ऐसे होता रहा वो सुंदर रूप का राग उसमें जो का तो बना रहा वो साधक है थोड़ी देर के मान के चलिए योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है मान के चलिए तो वो व्यक्ति घंटे हो गए या सायकाल आ गया तो वो आत्मनिरीक्षण जब करेगा कुछ अंदर तो फिर उस रूप को देखने का राग मन में पैदा हो गया दो बार उस व्यक्ति को देखू समझ में नहीं आया इतने घंटे तक उस व्यक्ति ने कोई पता नहीं लगाया कि मैंने प्रातःकाल सुंदर रूप में रस लिया था और दिन भर वो राग जो पड़ा था वो ज्यो का त्यों रहा सारे काम होते रहे मुझे पता ही नहीं चला अब दोबारा इच्छा हुई है उसी रूप को देखने की तब पता चला ये तो मैंने गलत सोच लिया था प्रातः काल अब समझ में आया नहीं आया बोलिए हम्म? दूसरे पक्ष में प्रातः काल आपने किसी व्यक्ति के साथ उत्तेजित होकर विचार बातचीत कर ली जब उत्तेजित होकर विचार करने लगे तो उसमें आपको क्रोध आ गया और क्रोध आने पर बातचीत हुई तो उससे द्वेष उत्पन्न हो गया आप साधक हैं ऐसा मान के चले योगाभ्यास करने वाले अब वो संस्कार पड़ गया उत्तेजित भी आप हो गए उसे द्वेष भी बन गया फिर आप दूसरे काम में लगे पाठ में लगे पढ़ाने में लगे आती आदि आदि कुछ पता नहीं चला चलते चलते सायकाल का समय उपासना का आया क्या समझ <laughs> दिन में कोई अता पता नहीं चला साधक जी साधक जी को अब तो कम आने लग गया होगा बहुत क्रोध आता था पहले कम हो गया नहीं साधक जी सीधी बात इसलिए कहते हैं वह साधक जी को कुछ अंदर लगे फिर ना आ जाए बहुत बचाव हो जाए अच्छा वो फिर वासना में बैठा और रणबीर और किसका नाम लो आत्मदेव जी रणबीर जी को आया हो तो ये सोचेंगे भाई आत्मदेव जी से जो चित्र खींचा था उनका क्रोध आया था फिर वही चित्र के सामने आ गया और कहने लगा आज तो मैंने प्रातःकाल भूल की थी ये अब ये हट नहीं रहा जो क्रोध आया था और वो व्यक्ति आपके चित्र रूप में आ जाएगा आएगा नहीं आएगा ये मुझे बताओ हम्म? कभी कभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा स्वभाव बना लेता है उसके कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत उल्टे उन उल्टे कार्यों को देख के उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है उसके प्रति द्वेष जैसा उत्पन्न होता है द्वेष की स्थिति अब व्यक्ति तो एक ही है और बहुत बार बार उल्टा करता रहता है बार बार उल्टा करता रहता है तो वो उसको इसकी इन घटनाओं में देख ये क्यों करता फिर करता औरों के साथ वो प्यार से रहता है क्या समझे आप और कितने लोग हैं पर उसके साथ आते ही सामने आते ही उसके दिखते ही उसकी चर्चा आते ही उसके प्रति द्वेष पैदा होता या नहीं ऐसा है जी वो जानता होगा मैं तो सबसे प्यार से रहता हूं मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूं मेरा किसी से बैर ही नहीं बस एक से है मेरा बैर ना एक से द्वेष है अब वो एक ही व्यक्ति उसको योग में प्रवेश नहीं करने देगा बस इतना ही <laughs> अपने योग में बाधक समझ लेना एक ही व्यक्ति है वही उसके योग को रोकने में समर्थ है द्वेष जो उस एक व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होता है हम देख लीजिए और जब तक उस व्यक्ति के पास न जाना फिर उसके साथ प्यार की बातें न करना या ये कहना मैंने मुझसे भूल हो गई थी मैंने उत्तेजित होकर आपको कुछ शब्द पड़े थे क्षमा करो और आगे मैं ध्यान रखूंगा बार बार जब तक नहीं दोहराएगा जब तक उस एक व्यक्ति से द्वेष नहीं हटेगा अब बताओ क्या करोगे आपके ब्रह्मचारी में होता है कभी कभी आपस में ऐसा द्वेष हाँ जी होता है तो आप हेम दुखम अनागतम को याद नहीं करते आर्य हम्म? समाज के पांचवें नियम में क्या बात कही गई सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करें वो दस प्रकार के अच्छे कर्म दस प्रकार के बुरे कर्म वो बिना सत्य असत्य को विचार के करेंगे ना चाहे मन से वाणी से शरीर वहीं मार खाएंगे हेम दुखम अनागतम को भूल जाओगे आप अब बिना सत